हम तो समझते थे वहाँ के रहने वाला भी मिलेगा लेकिन वहाँ देखा कि ऐसा लगता था जैसे पहले से ही हम आ सूचना वहाँ लोगों को है और वो लोगों ने जैसे हमको देखा जैसे आइए आइए और आप कहाँ करेंगे तो कहाँ क्या होगा आप यहाँ आइए देखो हमारे यहाँ सजाए का हमारे यहाँ सजाइए और यहाँ मंदिर में चाहिए तो मंदिर में सजाइए और आप यहाँ सजाइए यानी लोगों ने ठहराने की व्यवस्था और खाने की व्यवस्था अपने यहाँ करें तो हमको लगा हम तो वृंदावन में भगवान को छोड़ के आए थे कि यहाँ से आ गए हम तो में वो पहले के साथ विश्राम करने के लिए हमारा तो पहले तो सुनकर के बाद में बाद में व्यक्ति की भगवान पर कैसे करेगा ये तो कैसे होता है कैसे उसके ऊपर निर्भर है लेकिन विश्वास नहीं होता विश्वास ही बड़ा मुश्किल बात है विश्वास ही किसी तो सबको जरूरत है आप संत के साथ रहो और देखो कैसे करके होता है तो मैं दाएं सदा सदा था जहाँ चला जाता था वैसे कहीं कुछ उसको कोई कठिनाई नहीं कोई परेशानी नहीं संस्कृत में कर्म के लिए आरम्भ शब्द भी प्रयोग किया जाता है गीता में बहुत बड़ा है अनारंभ जमाने तो वहाँ पर भी अनारंभ अनारंभ बोर्ड पर है लेकिन अनारंभ तो मैंने कर्म तो है लेकिन कर्म के माने कर्ता भाव छोड़ करके भोक्ता भाव छोड़ करके जब कर्म करे तब अनारंभ हो और जब कर्ता भाव रखता है और भोक्ता भाव रखता है तो वो कर्म आरंभ है तो वो कर्म जो भी सकाम कर्म है उनको आरंभ कहते हैं शुरू करना जैसे उदाहरण मन शुरू है तो शुरू करना है मैंने कोई काम शुरू करना और कोई काम शुरू करना है मैंने जैसे संकल्प कैसे मैं ये करूंगा तो घर का भाव आ गया फिर जब वो काम करेगा तो आरम्भ कहलाएगा और जब उसके उसमें उसकी करने के फल आकांक्षा रखेगा तो ये समझेगी जब ये काम कर लूंगा तो ये फल मुझे प्राप्त होगा उसकी आशा रखे तो ये आरम्भ कहलाएगा लेकिन जो व्यक्ति जन्म हो निष्काम करने के अनाम जो निष्काम करने के इसी शब्द में बोल दिया जैसे त्यागम कर्म सुभाष सुविधाय ये बात है भगवान ने सत्पुरुषों के सज्जनों के लक्षण बोलते हुए भगवान ने बताए कैसे सज्जन लोग होते हैं त्यागम कर्म सुभाष सुविधायक जो सुबह से फल देने वाले हैं सदाम कर्म है उनको सज्जन लोग त्याग देते हैं तो उसी कारण यहाँ पर एक शब्द में हो गया लेकिन अनारंभ के माने ये नहीं कि व्यक्ति असमंग होते बढ़ जाए सोचिए तो पढ़िए काम नाम को ग्रहण करना ये आकर्मण ये तो आकर्मण था नहीं तो ऐसे भगवान बोलते थे कि सबसे अधिक भक्त मुझे वो प्रिय जो आकर्मण है या संस्कृत में आक्रमण करते नहीं होगा आक्रमण करेगी आराम न बढ़ेगी काम करने करेगा संसार में व्यक्ति जो हो काम करने थोड़ा और करने का अभिमान रखते हैं बहुत मैंने ये मैंने वो किया मैंने वो किया मैंने वो का काम करा ये उसके समस्त कर्म का जो वो जो कर्म का कर्ता भाव है वो कर्म का जो उत्तम फल है उसको नष्ट कर देता है उत्तम फल कर्म के द्वारा जो व्यक्ति की वासनाओं का क्षय होना चाहिए प्रकृति की शुद्ध प्राप्त होनी चाहिए वो ये कर्ता भाव कर्म करने का अहंकार उसको उस सुंदरपन को नष्ट कर देता है बल्कि उसके नए संस्कार बन करके उसके चित्र में मलिनता आने लगती है अब ये सब जब वो कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मानो बड़ी कठिन बातें हैं कोई व्यक्ति समझ नहीं सकता संसार में ऐसी बातें लगती माता जैसे कठिन बात क्या है व्यक्ति को देखो तो सुनते हैं पढ़ते हैं जानते हैं सबके बाद मैंने किया नहीं किया किया स्वामी जी ने को समझाने के लिए गीता में गीता में भी आता है यहाँ पर भी आता है जहाँ धार्मिक अध्याय भक्तों के रखा आते हैं वैसे भक्तों के रखने यहाँ पर भी है जैसे जैसे बताया रामायण में भी तो अनिकेत पर भी आता है एक तो अंग्रेजी में होता है हाउस और एक होता है होम हाउस और होम में क्या फर्क है तो इसको दोनों का अंतर करके बताते हैं कि देखो जैसे कहेंगे जो भगवान का भक्त है ज्ञानी व्यक्ति है वो किसी हाउस में तो रह लेता लेकिन होम में नहीं रहता लिए कमरा है बच्चों के लिए यह है बहुओं के लिए यहाँ है छोटे बच्चों के लिए यहाँ है किसने आ रखा है लेकिन जगह रखी है सभी रखी हुई है और ये बता भी है ये किसका है मेरा बस इसके माने वो हाउस में नहीं रहता होम में रहता भोग मत है इसलिए शास्त्र समझना इतनी बात समझना मुश्किल पड़ जाती है व्यक्ति को जिसमें शास्त्र समझ नहीं आता अगली चीजें खाने के लिए नीचे बने भवन भवन में मत रहो आप भाई के सड़क में जंगल में पड़े रहे सड़क में पड़े रहे सर्दी सर्दी में तो मरते रहे लगा लगा आगे बुद्धि काम नहीं करेंगे तो यहाँ पर जो है अभिमान न हो और सम्मान न चाहे तो अहंकार से थोड़ा करके अभिमान अभिमान में देहाभिमान पुत्राभिमान धनाभिमान पदाभिमान विद्या का अभिमान इस प्रकार के अनेक अभिमान हो जाते हैं अभिमान न रखते और वो अभिमान जब व्यक्ति को होता है तो उसके उसके बदले में समाज से सम्मान चाहता है लोग बात सम्मान नहीं प्रशंसा है अगर कोई शरीर से भी बड़ा तगड़ा हो गया पहलवान हो गया तो वो भी आशा रखता है कि दूसरे लोग मेरी प्रशंसा करें कि देखो तुम तो भाई बहुत तगड़े हो तुम तो बिल्कुल जो है सम्मा पहलवान से भी ज्यादा हो तुम तो जो है वो इतनी शक्ति तुमने कम से कम प्रशंसा करें उसके बाद प्रशंसा चाहने लगता है तो समझ लो कि उसको अभिमान

चलता सावधान सतर्क रहे और कुशल रहे अपने कार्य हम्म? कुछ लोगों के काम करने के होता है कि हर काम में ये बिगड़ गया वो बिगड़ गया ये बिगड़ गया वो बिगड़ गया कहीं ना कहीं बिगड़ नहीं रहता हम्म? कहीं बैठे भूल गए देखिए लोग बात किया माने उसमें किस दक्षता पानी लोटा लेकर के चले बाल्टी लेकर के गए बड़ी चल गई जो काम को बिगड़ गया कैसे हो जाएगा माने दक्षता शास्त्र देखो जैसे दक्षिण बने जैसे अकुशल व्यक्ति है वो भक्तों की गिनती बने अगर सब अलग अलग मार्क्स दिए जाएंगे भक्त को कौन भक्त कितना है उसकी कितनी कितने उसको अंक दिए जाए तो अलग से लोग अंक कर जाएंगे सब कार्य अपना प्रसन्नता पूर्वक सारे काम करें कहीं सुधार उसके पूर्ण कुशलता के साथ उसका कार्य और कुशलता से कब होगा जब जैसे सावधान होगा लापरवाही करेगा तो दक्षता थोड़े होगा कमों को भी होगा लापरवाह होगा दक्षता होगी सबको जो काम सबसे बड़ी काम निकल जाएगा वही गलती हो जाएगा बीस सब आकर भूल हुई जाएगा अच्छी बात बोल दी तो यही पता होना चाहिए कि हम सत्य प्राण अनुभूति नहीं है बल्कि कोई साक्षी साक्षी चैतन्य आत्मा वो अपना स्वरूप है ज्ञानी लोग है हम ऐसा नहीं कहते भगवान कहते हैं हमारा भक्त बिल्कुल अज्ञानी हो उसको ज्ञानी नहीं चाहिए ज्ञान से भक्ति श्रेष्ठ है लेकिन भाव इसके माने ज्ञान त्याग की और उपेक्षण है उसके ज्ञान भी उसके ज्ञान के उसमें लक्षणों में से मध्य के लक्षणों से जानिए और विज्ञान भगवान कहते हैं ज्ञानी नहीं बल्कि विज्ञान हो ज्ञान के मन परोक्ष ज्ञान परमात्मा का विज्ञान के मन अपरोक्ष ज्ञान सदा सज्जन संसर्गा और सज्जन लोगों के साथ में रहे उन्हीं प्रेम रखे में दो प्रकार के व्यक्ति जरूर है कुछ सज्जन है और कुछ गुर्जन भी है लेकिन सज्जन किसी काम के नहीं जितने गुर्जन है कुछ चलते पुरजे हैं काम बनेगा तो उन्हीं से बनेगा ऐसी धारणा नहीं है और जगह इसी प्रकार सज्जन लोगों से क्या उनसे क्या करा उनके पास क्या कर सरल स्वभाव हम नहीं कर सकते इससे कोई फायदा नहीं हो सकता तो ये जो धारणा है जितनी धारणा समाज में होती है उसका भगवान कहते हैं नहीं इस प्रकार से नहीं है ये सज्जन लोग जिनको क्या आपको दिखाई देता है कि आपको कुछ नहीं कर सकते ये सब कुछ कर सकते हैं सन्मार्ग जीवन का उच्च जो लक्ष्य है आनंद के जो मार्ग है सही जीवन का इन्हीं से प्राप्त होगा आपको जहाँ दिखाई देता कि है कुछ नहीं जो चलते फिरते लोग हैं वो चलते फिरते तो वो बस मशीन के चक्कर के सफर पर फिर जाएंगे जो संसार माया जाल का चक्र ऐसा चल रहा है उसके भीतर सब बता नहीं सकते ये सब हो जाएंगे सब एक दिन ग्रहण कर जैसे कि होली में तेल और उसमें ये उसमें उसको डाल करके पेड़ दिए जाते हैं इस प्रकार के सब करेंगे उनका साथ करना एक नहीं जिसे कहते हैं सदा सज्जन संसर्गा और कर्ण समय विषय स्वर्ग वर्गा ये अनाशक्ति हो गई विषाशक्ति का त्याग कर्ण सम विषय विषयों को चिंते के समान त्याग दे चिंते के समान त्यागने के माने क्या है चिंता उपेक्षा ही है उपेक्षा कर ऐसे विषय सुखों की उपेक्षा कर इंद्रिय भोग विषय सुख माने सत्य स्पर्श रूप रसगंध ये विषय है और ये विषय इस लोग के विषय से लेकर के सब लोग तक के विषय लोगों तो वहाँ जो सुख प्राप्त है जो जो भी समस्त सुख जो किसी न किसी के द्वारा या के साधनों के द्वारा प्राप्त होते हैं सब सुख सुख तो कौन सुख है परमात्मा का सुख आत्मा का परमात्मा का सुख फिर सुख की बात आगे बताते हैं कि वो जो वास्तविक आनंद है जो परमात्मा का आनंद है उसके प्राप्त करने की कामना करे दूसरे के सुख के प्राप्त की कामना न करे चाहे इस लोग क्यों होता है परलोक क्यों भगत के पक्ष हटने की सत्ता ही जैसे वो भक्ति पक्ष में जो है वो मन करता पक्ष में रहे मैंने भौतिकता की जाने ना पड़ते भक्ति पक्ष में रहे भक्ति पक्ष को पकड़े आध्यात्मिक पक्ष में आध्यात्मिक पक्ष भक्ति पक्ष है उसी पक्ष में रहे लेकिन सत्ता ही सत्ता सत्ता दूसरे लोगों को हंसी पहुंचाने के लिए और अहंकार करके दूसरों को हंसी पहुंचाने को देश अपने स्वास्थ्य के लिए कार्य करता है तो उसमें जो है सत्ता है अब सज्जन जन हो तो सत्पुरुष है अब उसके बाद यहाँ पर हाँ, उन लोगों को कहते हैं कि लोग सज्जनों के जो विपरीत आचरण वाले हैं उनको भगवान ने जहाँ बताया दो प्रकार का आचरण सज्जन कौन है सत्पुरुष कौन है असत्पुरुष कौन है साधु कौन है असाधु कौन है जो असाधु है दुर्जन है दुष्ट लोग हैं उनके लिए सत्तर उपयोग है सत्ता के पक्ष लेकर कभी कभी सत्ता देखी जाती है सत्ता के माने फिर लोग हैं वो भक्ति की बड़ी प्रशंसा करेंगे ज्ञान की निंदा करें की निंदा करें और वे सात जन्मों की ज्ञान की बातें उनको जो है बताने लगे अपमान करने लगे अब ये तो भक्ति क्या हो कहेंगे हम बहुत बात करें इसलिए ऐसा करते ये भक्ति की सत्ता हो इसलिए भक्ति कर भक्ति जो वो भक्ति में सरलता है भगवान में प्रेम है लेकिन ज्ञान आदि का विरोध नहीं है निष्काम कर्म आदि का विरोध नहीं है भक्ति में सरल स्वभाव हो सबके साथ प्रेम भाव भी हो दुर्जनों से दूर है लेकिन दुर्जनों से भय भाव रखें दुर्जनों से भय भाव रखने में भी सत्ता जाएगी को देखेंगे तो बहुत जगह दिखाई देगा धरती पर चढ़ नहीं सकताई और दुष्ट तर्क सब दूर बहाई उसमें जो है तर्क नहीं आता दुष्ट तर्क में जिन तर्कों में दोष उन तर्कों को नापना दोष से बन गया दुष्ट दोषपूर्ण तर्क जो है वो दुष्ट तर्क है दोषपूर्ण तर्क कौन से है जिनको वैसे कुतर्क कहते हैं मैं जिनमें कमजोरी है लॉजिक होती है उसमें लॉजिक के साथ लॉजिक के जो नियम है वो नियमों पर स्थापना से करो तो तो ठीक है और वो आपको सत्य की तरफ मिल जाएगा आपको जो यथार्थ बात है उसे आपके लॉजिक से आपको ज्ञात हो जाएगी लेकिन आप उसको उन्हीं तर्कों को इस प्रकार से प्रयोग करें जिनमें करेक्ट है और आप उसको माने और उसकी बात तक बताएं और उन्हीं को लेकर के दूसरे से झगड़ा करना शुरू कर दें तो फिर इसको तरफ हो जाएगा भगवान कहते हैं कि देखो जल है विदंता है और एक बात कहते जो वाद विवाद करने वाले शब्द काम हम तो जो बात करने वाले हैं उनमें से वाद मैं हूँ देखो बाद में भी भगवत्ता के समान क्योंकि वो शब्द तक जाती है व्यक्ति को लेकिन जल पर विदंता ये कोई तर्क थोड़ा है जन से मने से कोई मतलब नहीं जो अपनी बात समझता है बदल चले जाते हैं बात बोले चले जाते हैं उसका नाम है जन आपको की बात सुनी तो तर्क हो गए तर्क नहीं तो तर्क ही से ऐसे ही विचलिया विनती कर दे दूसरे जो कुछ बात प्रस्ताव दी उसको कोई देखना सोचना विचारना नहीं तो उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है बस सिद्ध सिद्ध इसलिए जल छोड़ करके अगर कोई व्यक्ति सत्संगत अपने लॉजिक के सिद्धांत है दिल के आधार के ऊपर बात को स्वीकार करे तो वो सत्य पर पहुंचेगा और सत्य परमात्मा है तो परमात्मा की प्राप्ति होगी लेकिन अगर वो कुतर्क करता है तो फिर न वो ज्ञानी न वो भक्त है वो कुछ नहीं अध्यात्म क्षेत्र में उसका प्रवेश नहीं कुटर्क देखेगा तो वृत्त सर्व सब दूर बाहर ही उन सबको कुटर्कों को सब दूर रखेंगे अपने आप गुण बता दिए तो अंत में फिर भगवान ने मम गुणग्राम नाम रख हमेशा भगवान के गुणों का गुणग्राम जो भगवान के गुण है उनका स्मरण करता है नाम रख भगवान का नाम लेता है जब ममता मत ममता मत को छोड़ न ममता रखे न मद रखे न मोह रखे ममता मन मेरा न रखे कहीं मेरा शरीर मेरा तन मेरा वस्तु मेरा मकान ममता कहीं न रखे और मत रहो धन संपत्ति त्याग का नशा करता व्यक्ति के ऊपर वो मन ही न उसमें आवे और मोह भी न हो मोह मैंने अविद्या न हो अज्ञान न हो ध्यान को पूर्ण करो जगत मिथ्या जगत में तादात्म करके बैठे हैं ये सब न हो ये मोह ही न हो और बस हो ये भगवान के गुणगान भगवान का ही नाम जप भगवान की सनातन उसी का स्मरण करता रहे ये सब करे तो उसमें जो है भक्ति जागृत होगी उसके अंदर पाकर सुख सुई जानेगी भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति को जो सुख प्राप्त होगा हम कहा बता दें कैसा सुख ज्ञान होता है उसकी तुलना का कभी दूसरा तो सुख नहीं उसका सुख तो वही जानता है उसको क्या सुख प्राप्त होगा परानंद परमानंद परमानंद ब्रह्मानंद आत्मा का ब्रह्म का जो वास्तविक आनंद है शुद्ध आनंद है वो आनंद से प्राप्त होगा बाकी लोग तो जैसे आनंद की व्यक्ति को जो है वो उसी आनंद का जो प्रतिबिंब जहाँ कहाँ है थोड़ा बहुत बस उसी से मैं अपने आप को आनंदित मानते रहते हैं आनंद यही उच्च कोट का जीवन का जो आनंद है वो इस प्रकार प्राप्त होगा नहीं तो भ्रम पूर्ण सुख व्यक्ति अपने आप में जीवन में जीता रहता भ्रम क्यों जीता रहता सुख भी समझता है तो सुख ही यथार्थ सुख को सुख समझता रहता ये कहते हैं इस प्रकार बताया तो हैं कि भक्ति बताए वो प्रकार बता दिए निवृत्त मार्गियों के लिए बता दिए निवृत्त मार्गियों प्रधान इत्यादि है अनाथमानी समानी इत्यादि प्रधान और प्रवृत्ति के लोगों के लिए जो लक्षण बताए वो सरल स्वभाव मन कुशलाई इत्यादि उनमें उसमें बड़ा की बात नहीं है लेकिन जीवन सरल होने की बात उसमें दूसरे प्रकार के लक्षण तो इस प्रकार देखते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग की मार्गी मार्ग भी दोनों के लिए भक्ति है पहले प्रवृत्ति मार्गी जब भक्ति मार्ग में आएंगे तो आगे चल करके जब उनमें और वैराग याद आएगा तो इस प्रकार का जो निवृत्ति मार्ग की भक्ति है वो भी भक्ति आ जाएगी और अंत में फिर उनको जो है परमानंद की प्राप्त होगी इस भक्ति का अंतिम उद्देश्य कोई ऐसा नहीं सारे जीवन त्याग करते रहो परेशानी होते रहो दुखी होते रहो ऐसे नहीं जब भक्ति का जीवन है तो भक्ति में जीवन में ही सुख है और उसका अंतिम लक्ष्य है जो परम प्राप्त कर रहे वो भी परमानंद है उसमें कहीं किसी प्रकार की हार नहीं जीवन का एक राजमार्ग है किसी राज्य जब पालन शुरू करते हैं तो वहाँ पर ही कहते हैं जो अनजान ऋषियों ने एक जीवन का एक राजमार्ग तैयार कर दिया था ऋषियों ने मन चल बस कोई रास्ता हम दिखा रहे उसी पर हम चलते हैं और उस पर चलने में कोई हार नहीं मैंने कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ कुछ जुआ हो हाँ, कभी ऐसा ही हो जाए हम ऐसा जीवन जी रहे हैं कि बाद में पता चले जल्दी का जीवन चला गया गलती हो गई ऐसे पश्चाताप नहीं होगा ये है इस पर आप चलेंगे तो आपको शांत संतोष सुख आनंद ही आनंद बढ़ता चला जाएगा ये सही आपका जीवन है तो वो इसका उद्देश्य बता दिया परमानंद की प्राप्त इस मार्ग अगर इस मार्ग को नहीं चलते जिसके माने इसमें है तो फिर परमानंद की बात क्या जीवन स्वयं आपके दुख में हो जाएगा भाग बन जाएगा शिक्षाकारी होकर के उत्तराकारी होकर के आप तो अज्ञानी का जीवन जीवे तो उसमें समझते भले रहे कि सुख हो जाएगा सुख हो जाएगा वो अगर कभी कुछ नहीं रोते रोते जीवन जीते तो भगवान ने इतना बोल करके उपदेश भगवान का पूरा हो गया और आप कल देखेंगे इसके बाद में इसे अयोध्या का आपने क्या किया हाँ, सुनकर के कुछ उन्होंने उसको फॉलो किया कि नहीं हाँ, तो उसके अनुसार उन्होंने अपने को स्वीकार किया कि नहीं किया ये बात अब हृदय समदीये सत्यम वदामि च मानसान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छरविपुङ्गवनधराम्ये कामादिदोषरहितं राम जय जय राम श्रीराम राम जय जय जय राम